जिन लोगों ने अल्लाह की किताब को झुटलाया और उस चीज को भी झुटलाया जिसके साथ हमने अपने रसूलों को भेजा तो अनकरीब वो जान लेंगे